जो साहिब का लाल है सो पावे गाल सो पावे गाल जाय के गोता मा शिवावे जाय लाल को तुरत निकारे जो साहब का लाल है सो पवे गालाल निस दिन मारे मौज मिली अब वस्तु अपानी रिद्धि सिद्धि और मुक्ति भरत है उन घर पानी जो साहब का लाल है सो पवे गालाल वे साहन के साह है आसन दूजा ब्रह्मा विषानु महेश करे सब उनकी पूजा जो साहब कालाल है सो पावे गालाल पलटू गुरु भक्ति बीना भेष भया कंगाल जो साहब काला लहर सो पावेगा लाल सो पावेगा नाम हम्म, खोजते हीरा दाम जाहरी की गांठ खुला बातन की बक वाद जौहरी को बिल लंबी बोलत बात करे बातन की लदनी खोजत हीरा को फिरे कोड़ी गाठ में नाही करत है बातें इतनी लिहाजा हरी ताड़ फिरा है गाहक खाली खोजत हीरा का फिर ये लीलई समेटी दीहा काहत का ताली कलाज छूटे नाही पलटू चाहे ना खोजत हीरा फिर नहीं पोत का माया की चक्की चले पिसी गया संसार पिसी गया संसार बचे ना लाख बचावे दो पट के बीच संसार जावे काम क्रोध मदलो लोभ पी के पीस तिर गुणडार पकड़ के सब निकारे तृष्णा बड़ी छिनारी जाई उन सब घर घाला काल बड़ा बरियार किया एक निवाला पलटू हरि के भजन बिनु को उतरे पार माया की चक्की चले पिसी गया संसार अहद मस्ती है लोग कहते मैं परस्ती है लोग कहते गमे हस्ती खरीदने वालों मौत सस्ती है लोग कहते हम जहाँ जी रहे हैं मर मर कर वज में हस्ती है लोग कहते जब तोबा पे आ रही है हंसी तंग दस्ती है लोग कहते हैं शायद एक बार उजड़ के फिर न बसे दिल की बस्ती है लोग कहते हैं क्या करें महबसों से प्यार अदम बुत परस्ती है लोग कहते हैं अहद मस्ती है लोग कहते हैं मैं परस्ती है लोग कहते हैं प्रभु के प्रेम में जो दीवाने हैं दुनिया तो उन्हें ऐसा ही समझेगा समझेगी जैसे कि पागल है दुनिया के पास उन्हें तोलने का कोई उपाय नहीं कोई तराजू नहीं कोई कसौटी नहीं बाउल कथा है कि एक सुनार ने बाउल फकीर से पूछा किस प्रभु के गीत गाते हो कुछ हम भी तो समझे किस मस्ती में मृदंग बजाते हो कुछ हम भी तो समझे हमें न तो कोई प्रभु दिखाई पड़ता है न जीवन में कोई सार न कोई अर्थ हमें तो सब व्यर्थ मालूम होता है बाउल फकीर नाच रहा था रुक गया मृदंग बजा रहा था रुक गया और उसने कहा कि तुमने मुझे याद दिला दी मैंने सुना है एक सुनार एक बार फूलों की बगिया में पहुंच गया था माली मस्त था वसंत आया था मधुमास था फूल ही फूल खेले थे रंग रंग के फूल गंध गंध के फूल सारी बगिया दुल्हन बनी थी जिसे आकाश से तारे उतर आए हो ऐसे वृक्ष सजे थे लेकिन सुनार कहने लगा मैं तो जब तक कसू न फूलों को सोने की कसौटी पर तब तक मानूंगा नहीं और उसने फूलों को कसना शुरू कर दिया सोने की कसौटी पर अब सोने की कसौटी पर फूल कसे नहीं जाते और कसे जाए तो फूल सोना नहीं है तोड़ने लगा फूल कसने लगा फूल फेंकने लगा फूल क्योंकि कोई सोना न था और सुनार को समझ में ही ना आए कि सोने के अतिरिक्त भी सोना है जीवन एकांगी नहीं बहुआयामी है यहां जो लोग परमात्मा के प्रेम में दीवाने हैं संसार तो उन्हें पागल ही समझेगा उसके पास तो कसौटी की एक ही चीज है कितना धन है तुम्हारे पास कितना पद है तुम्हारे पास कितनी प्रतिष्ठा संसार तो सिर्फ अहंकार को तोलने का तराजू जानता है निर अहंकार को तोलने की उसके पास कोई सुविधा नहीं है संसार तो पदार्थ को देख सकता है परमात्मा के प्रति अंधा है लेकिन कौन अपने को अंधा माने और फिर अंधों की भीड़ हो तो भीड़ कैसे राजी हो होंगे बुद्ध अंधे होंगे कबीर अंधे होंगे पलटू अंधे लेकिन इतने करोड़ों करोड़ों लोग अंधे हो सकते ये पड़ गए होंगे वहम में खा गए होंगे कोई धोखा खो गए होंगे किसी सपने में बातें करने लगे दीवानी की लेकिन इतने करोड़ करोड़ लोग इनमें तो कोई परमात्मा दिखाई पड़ता ना कोई रोशनी दिखाई पड़ती न कोई शक्ति का अनुभव होता ये गलत कैसे हो सकते हम तो लोगों के सिर गिनत के तय करते हैं कि सत्य क्या है जिससे सत्य भी मत से तय होता है तब स्वभावता जिन्होंने जाना है उनसे हम कुछ भी नहीं सीख पाते जिन्होंने जाना है सीखना तो दूर हमसे जितना बन सके उतना उनका तिरस्कार करते हैं हम तो उन्हें अंधा कहते हैं जिनके पास आंखें और जिनके पास सच्ची बुद्धिमानी है वे हमें दीवाने मालूम होते हैं ये सोचने की प्रक्रिया बदलनी पड़े जरूर संतों ने कोई शराब पी ली लेकिन वो शराब अंगूरों से नहीं ढलती और बाजारों में नहीं बिकती वह शराब आत्मा में ढलती है भीतर ही निर्मित होती है वह शराब बेहोशी नहीं लाती होश लाती वह शराब सुलाती नहीं जगाती जरूर संत पागल लेकिन उनका पागलपन तुम्हारी बुद्धिमानी से लाख गुना कीमती है जरूर संतों के पास देखने योग्य संपदा नहीं है लेकिन उनके पास अग्रस्त संपदा है जिसे मौत भी न छीन सकेगी पलटू उसी संपदा की आज बात कर रहे हैं कहते हैं जो साहब का लाल है सो पावेगा लाल जो परमात्मा के चरणों में झुक गया है जो परमात्मा में समर्पित हो गया है जो परमात्मा के रंग में रंग गया है जिसने अपने अहंकार को सब भांति छोड़ दिया है जो कि बस परमात्मा का सेवक हो गया माने तो चाकर राखो जी जिसने कहा कि मुझे तो बस नौकरी में रख लो पैर दबाता रहूं पड़ा रहूं जो साहब का लाल है सेवक है सो पावेगा लाल वही पाएगा असली हीरा कोहनूरों के ढेर लग जाएंगे उसके जीवन में हालांकि वे कोहनूर किसी और को दिखाई नहीं पड़ेंगे उनको दिखाई पड़ेंगे जिनके जीवन में वैसा अनुभव हुआ है अनुभवी ही परख पाएंगे पलटू को परखना हो तो कोई कबीर चाहिए कबीर को परखना हो तो कोई नानक चाहिए नानक को परखना हो तो कोई बुद्ध चाहिए आंख वाले ही आंख वालों को पहचान सकते अंधे कैसे पहचानेंगे अंधे मान भला ले पहचान नहीं पाते और उनकी सारी मान्यता के पीछे संदेह खड़ा रहता है तुम्हारे विश्वास दो कौड़ी के तुम ईश्वर को मानो तुम मंदिर मस्जिद को मानो तुम गीता कुरान को मानो लेकिन तुम्हारी मान्यताएं दो कौड़ी की क्योंकि हर मान्यता के पीछे संदेह का कीड़ा लगा है तुम्हारी मान्यताओं का संदेह का कीड़ा खा जाएगा और जब मौत द्वार पर दस्तक देगी ये मान्यताएं काम ना आएंगी ये मान्यताएं ऐसे गिर जाएंगी जैसे ताश के घर गिर जाते हैं ये मान्यताएं ऐसे डूब जाएंगी और तुम्हें भी डुबा लेंगी जिससे कागज की नावें डूब जाती मानने से कुछ भी नहीं होता जानने से कुछ होता है क्रांति जानने से घटित होती संपदा होनी चाहिए उपलब्ध मगर लोग झुकने को राजी नहीं लोग परमात्मा के सामने भी झुकने को राजी नहीं कहीं मन में गहरी आकांक्षा है कि परमात्मा ही झुके कहो चाहे तुम या न कहो लेकिन अगर परमात्मा भी रास्ते पे मिल जाए तो तुम्हारा अहंकार यही चाहेगा कि पहले नमस्कार वही करे तो हम उत्तर दें तुम नमस्कार करने में भी कंजूसी कर जाओगे तुमने सदा की है कंजूसी यह कोई नई बात नहीं नमस्कार दूर तुमने जीसस मंसूर और सुकरात जिससे लोगों को मारा हत्या की उनकी न करते नमस्कार उपेक्षा करके गुजर जाते वो भी ना हो सका तुम उनके जीवन को भी बर्दाश्त न कर सके असल में जब संपदा लेकर कोई इस पृथ्वी पर खड़ा होता है तो सारे दीन दरिद्र उसके विरोध में खड़े हो जाते सारे आत्मिक लोग दृष्टि से हीन लोग बेचैन हो जाते उसे मिटा देने को आतुर हो जाते क्योंकि उसकी मौजूदगी उन्हें उनकी हीनता का बोध कराती उसकी रोशनी वे अंधे हैं और अंधेरे में हैं इस बात की इतनी गहन प्रतीति बन जाती है कि अब दो ही उपाय हैं या तो अपने को बदलें या ऐसे लोगों को हटा दें जीवन से जिनके कारण ये संकट पैदा हो रहा है जिनके कारण जीवन अस्त व्यस्त हुआ जा रहा है जिनकी मौजूदगी के कारण तुम्हारा जीवन व्यर्थ मालूम होता है और यही आसान है ऐसे लोगों को हटा देना जीसस को सूली पर चढ़ा देने से ज्यादा आसान और क्या है लेकिन स्वयं को रूपांतरित करना कठिन प्रक्रिया है जो साहिब का लाल है उस प्रक्रिया का पहला अंग है समर्पण पहला अंग है अपने अहंकार का विसर्जन पहला अंग है झुक जाना बेसर्त और झुकते ही संपदा बरस जाती है सो पावेगा लाल जाए के गोता मारे वही पा सकता है इस संपदा को जो गहरे में गोता मारे अहंकार तो उथली से उथली चीज है इसलिए अहंकारी आदमी से ज्यादा उथला आदमी तुम्हें ना मिलेगा ऊपर ही ऊपर जीता है वस्त्रों में आभूषणों में श्रृंगार में रंग रोगन में बस ऊपर ही ऊपर जीता है जीसस ने कहा है अहंकारी आदमी ऐसा ही है जैसे चूने से पोती गई कब्र झकझक होती ऊपर तो चूने से पोती गई नई नई कब्र सुम्र चमकती और भीतर भीतर सिर्फ सड़ान है हड्डी मांस मच्छा मिट्टी में मिल रहे हैं जीसस ने कहा है ऐसा ही साधारण आदमी बस चूने से पुती हुई कब्र भीतर सिवाय सड़ान के और कुछ भी नहीं ऊपर से सुगंध छिड़क ली घाव है फूलों में छिपा लिए भीतर पीड़ा ही पीड़ा है ऊपर झूठी मुस्कुराहटें ठोक ली ऐसे नहीं होगा जाए के गोता मारे इस परमात्मा के विराट अस्तित्व में डुबकी मारनी होगी दर्शक बनने से नहीं चलेगा राह के किनारे खड़े होने से नहीं चलेगा तट पर बैठे रहे तो बैठे ही रह जाओगे कुछ भी ना पाओगे खाली आए खाली जाओगे उतरना होगा सागर में मोती मिलते हैं लेकिन गोताखोरों को मिलते मोती गहरे में होते हाँ किनारों पर चाहो तो बीन लेना शंख सीपिया रंग बिरंगे पत्थर और उन्हीं से खेलते रहना और उन्हीं से लोग खेल रहे रंग बिरंगे पत्थर शंख सीपिया रेत के घर बना रहे हैं फिर चाहे तुम उन घरों को महल ही क्यों ना कहो और पत्थर के महल भी आखिर रेत के ही महल हैं क्योंकि पत्थर रेत ही है सब पत्थर एक दिन रेत हो जाते और सब रेत एक दिन पत्थर बन जाती पत्थर और रेत में कोई भेद नहीं है निगह की बर्छिया जो सह सके सीना उसी का है हमारा आपका जीना नहीं जीना उसी का है ये वज में मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है मुकद्दर या मुसफ़ा जिसको ये दोनों ही एकसा हकीकत में वही महफार है पीना उसी का है उम्मीदें जब बढ़े हद से तिलिस्मी सांप है जाहिद जो तोड़े यह तिलिस्म ए दोस्त गंजीना उसी का है कदूरस से दिल अपना पाक रख ए शाद पीरी में कि जिसको मुंह दिखाना है ये आईना उसी का है ये सारा अस्तित्व उसी का दर्पण जिसे मुंह दिखाना है ये आईना उसी का है यहां प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का ही छुपा हुआ रूप है और यहां प्रत्येक संबंध दर्पण है जिसमें तुम्हारी झलक मिलती है मगर तुम आंख खोलो तो यहां तो सभी नजरें उसी की हैं मगर उसके लिए नजरों को झेलने की छाती तो चाहिए निगह की बर्छिया जो सह सके सीना उसी का है हमारा आपका जीना नहीं जीना उसी का है जरा सोचो ये सारी आंखों से परमात्मा झांक रहा है एक क्षण जरा इस विचार को तुम्हें पकड़ने दो जैसे झंझावात पकड़ ले ये सारी आंखें उसकी घबरा जाओगे बेचैन हो जाओगे वह तुम्हें प्रति घड़ी देख रहा है ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम बच के जा सको छिपने का कोई उपाय नहीं हाँ छिपने का एक ही उपाय है वो है शुतुरमुर्ग का उपाय जो अपने सिर को रेत में गड़ा के खड़ा हो जाता अपनी आंख ही बंद कर लेता है और यही हम सब ने किया है हम सब मुर्गी न्याय को मानते हैं अपनी आंख बंद करके रेत में सिर को गड़ा के खड़े हो गए हैं सोचते हैं न दिखाई पड़ता है न होगा लेकिन तुम आंख बंद कर लो इससे सूरज नहीं मिटता सिर्फ तुम अंधेरे में हो जाते हो और प्रत्येक व्यक्ति ने परमात्मा के प्रति आंख बंद कर रखी और अकारण नहीं भय के कारण घबराए हैं लोग हम उसकी आंख देख सकेंगे हम उसकी आंख सह सकेंगे हम उसके आमने सामने हो सकेंगे और घबरा दिया है तुम्हारे पंडित पुरोहितों ने तुम्हें बुरी तरह घबरा दिया है तुम्हारे पंडित पुरोहितों ने तुम्हें एक ही बात सिखाई है भय तुम्हें ईश्वर भीरू बनाया है तुम्हारे प्राणों को कपा दिया है कि नरक में सड़ना पड़ेगा और तुम्हारी आत्मा को बहुत लोभ से भर दिया है कि ऐसा करो तो स्वर्ग ऐसा करो तो स्वर्ग के सुख और ऐसा नहीं किया तो नरक के दुख नरक की पीड़ाएं कड़ाहों में जलाए जाओगे उबलते हुए तेल में उबाले जाओगे तुम्हें बहुत डराया है भय और लोभ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इधर भय इधर लोभ धर्म को भय और लोभ की दुकान बना दिया है और धर्म है अभय और धर्म है अलोभ इसलिए जो भय के कारण धार्मिक है वो कभी धार्मिक हो ही नहीं पाते वो तो शुतुरमुर्ग है वो तो आंखें बंद किए सिर में रेत गड़ाए खड़े फिर चाहे उन्हें हिंदू कहो चाहे मुसलमान चाहे ईसाई इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी ने मस्जिद में आंखें गड़ा ली किसी ने मंदिर में आंखें गड़ा ली कोई गिरजे में छुप गया है ये तुम्हारे स्थान है जहां तुम परमात्मा से छिप रहे हो कहते तो तुम ये हो कि हम परमात्मा के दर्शन को जा रहे हैं मंदिर मस्जिद गिरजा लेकिन असली में तुम जा रहे हो परमात्मा से बचने छिपने अन्यथा परमात्मा सब तरफ मौजूद है उसे झेलने की छाती बनाओ साहस जुटाओ धर्म कायर का नहीं है भीरू का नहीं है धर्म सिर्फ साहसियों का है हिम्मतवरों का है जो जोखम उठा सकते हैं उनका है जो जीवन के अभियान पर निकलने को तत्पर है उनका है लेकिन मामला कुछ बड़ा अजीब हो गया हालत ठीक उल्टी हो गई धर्म के नाम पर लोग शीर्षासन किए सिर के बल खड़े मंदिरों मस्जिदों में जिनकी तुम्हें भीड़ मिलेगी वो अक्सर भीरू लोग हैं डरे हुए लोग हैं घबराए हुए लोग हैं डर के कारण उन्होंने घुटने टेक दिए किसी प्रेम में वे नहीं झुके किसी प्रार्थना में नहीं झुके भय के कारण उनके घुटने झुक गए भय के कारण उनके ओठों से मंत्र बुदबुदाए जा रहे हैं कल रात में कहानी पढ़ रहा था ईश्वर ने दुनिया बनाई अलग अलग जातियां बनाई हिंदुओं से पूछा तुम क्या चाहते हो उन्होंने कहा गायत्री मंत्र जैनों से पूछा तुम क्या चाहते हो उन्होंने कहा नमोकार मंत्र मुसलमानों से पूछा तुम क्या चाहते हो उन्होंने कहा कुरान ईसाइयों से पूछा तुम क्या चाहते हो ऐसे वो पूछता गया अलग अलग लोगों से अलग अलग देशों से अलग अलग जातियों से और सबसे आखिर में बनाया उसने अमेरिकन पूछा तुम क्या चाहते हो उसने कहा डॉलर ईश्वर थोड़ा हैरान हुआ उसने कहा देखो तुम्हारे सामने ही किसी ने गायत्री किसी ने गीता किसी ने कुरान किसी ने बाइबल किसी ने तालमुद किसी ने नमोकार मंत्र तंत्र यंत्र ध्यान प्रार्थना पूजा ये सब चीजें मांगी और तू मांगता है डॉलर अमेरिकन ने आप का फिक्र छोड़ो सिर्फ डॉलर मुझे चाहिए और सब मंत्र तंत्र जानने वाले लोग अपने आप डॉलर के पीछे चले आएंगे वैसा ही हुआ भी सारी दुनिया अमेरिका की तरफ भागी जा रही अब काबा में काबा नहीं और काशी में काशी नहीं काशी काबा के सब पंडित पुरोहित तुम्हें कैलिफोर्निया में मिलेंगे भयभीत आदमी अगर भय के कारण गायत्री भी मांग ले तो उसकी गायत्री खरीदी जा सकती है भय के कारण अगर कोई भगवान का नाम लेता हो उसका भगवान भी खरीदा जा सकता है क्योंकि भयभीत मूलतः लोभी होता है लोभी ही भयभीत होता है लोग प्रार्थनाएं क्या कर रहे हैं मांगते क्या है प्रार्थना में यही कि और धन दे कि और पद दे कि और प्रतिष्ठा दे संसार ही मांगते हैं जाते परमात्मा के पास है परमात्मा को छोड़ के और सब मांगते निगह की बर्छिया जो सह सके सीना उसी का है हमारा आपका जीना नहीं जीना उसी का है ये वज में मैं है ये पीने वालों की महफिल है ये वज में मैं है यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी यहाँ हाथ सिकोड़ के भयभीत न बैठे रह जाना यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है यहाँ तो सुराही उसकी है जो हिम्मत करे और बढ़ के सुराही को उठा ले यहाँ सिकड़े सिकड़ाए भयभीत बैठे रहे तो चूक ही जाओगे यहाँ डरे डरे घबड़े घबड़ाए बैठे रहे तो तुम्हारी प्याली रिक्त ही रह जाएगी कोई साकी नहीं आएगा उसे भरने कोई सुराही अपने से सड़क के तुम्हारी प्याली में डलेगी नहीं जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है और पीने वाले की क्या परिभाषा है किसको हम पियक्कड़ कहें परमात्मा के जगत में पीने वाला कौन है मुकद्दर या मुसफा जिसको ये दोनों ही इच्छा हो सफलता और असफलता पुण्य और पाप जिसे दोनों एक से हों जिसे कुछ भेद ही ना रह जाए जिससे पृथ्वी और आकाश एक से जैसे मालूम होने लगे जिसके भीतर दुई मिट जाए मुकद्दर या मुस्तफा जिसको ये दोनों हो इकसा हो हकीकत में वही मैख्वार है पीना उसी का है बस वही पियक्कर है उसने ही जाना उसने ही पिया उसने ही स्वाद लिया उम्मीदें जब बढ़े हद से तिलिस्मी सांपें जाहिद जो तोड़े यह तिलिस्म ये दोस्त गंजीना उसी का है यहाँ तुम्हारे त्यागी विरागी भी मांग रहे और मांगने वालों को परमात्मा की संपदा नहीं मिलती मालकियत चाहिए अपने भीतर भिकमंगापन मिटना चाहिए जीवन का गणित बहुत अद्भुत है जो मांगता है उसे नहीं मिलता जो नहीं मांगता उस पर एकदम वर्षा हो जाती जो तोड़े यह तलिस ए दोस्त ये भिकमंगेपन का जो जादू तुम्हें घेर लिया है ये माया जो तुम्हें घेर ली जो तोड़ दे ए दोस्त गंजीना उसी का है खजाना उसका ही है खजाना दूर भी नहीं खजाना पास ही है मगर डुबकी लगाने का साहस ऐसा नहीं कि डुबकी लगाने में तुम्हें कुछ मिलो डुबकी लगानी डुबकी लगाते ही मिल जाता है डुबकी लगाने की ही बात है एक रात एक यात्री एक पहाड़ पर भटक गया अंधेरा था राह अनजानी थी किसी तरह टटोल टटोल बढ़ रहा था कि पैर खिसला और गिरा पकड़ के एक जड़ वृक्ष की अटका रहा रात ठंडी थी और ठंडी होती गई हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए पकड़ छूटने लगी मगर सारी ताकत लगा के अटका रहा अटका रहा अटका रहा सुबह तक किसी तरह प्राणों का सवाल था जिंदगी मरण की बात थी किसी तरह अपने को सुबह तक बचाया और जब सुबह सूरज की किरण निकली तो पता है वे पहाड़ियां उस आदमी की हंसी से गूंज उठी वो ऐसा खिलखिला के हंसा कि सारे पहाड़ उसके साथ हंसने लगे क्या हो गया क्यों हंसा हंसा इसलिए कि जब सुबह सूरज की किरण निकली तब उसने देखा कि वो नाहक रात भर परेशान रहा सिर्फ छह इंच नीचे जमीन थी अंधेरे में लटका रहा भय के कारण कि पता नहीं किस खाई खड्ड में गिरना पड़े अगर हाथ से जड़ छूट जाए रोशनी हुई तो पता चला केवल छह इंच नीचे जमीन थी कोई डर न था हिम्मत हो गोता लगाने की तो दूर नहीं है उसका खजाना उसके लाल बहुत दूर नहीं है दूरी उतनी ही है जितनी तुम में हिम्मत की कमी उसी अनुपात में दूरी है सो पावेगा लाल जाए के गोता मारे मर जीवा हुई जाए लाल को तुरंत निकाले तुरंत शब्द को याद रखना इसी क्षण घटना घट गट सकती है तुरंत एक क्षण भी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं लेकिन एक शर्त पूरी करनी पड़े मर जीवा हो जाए जीते जी मृतवत हो जाए अहंकार हट जाए तो ये घटना घट जाती तुम हो भी और नहीं भी हो अहंकार गया तो तुम शून्य हो मर जीवा हुई जाए अहंकार गया कि तुम गए परमात्मा है मर जीवा हो जाए लाल को तुरंत निकाले तुम शून्य हो जाओ तो पूर्ण अपने आप उतर आता है मगर हम अहंकार की जड़ों को पकड़ के अटके और एकाध रात नहीं जन्म जन्मों से अटके ये रात बड़ी लंबी हो गई और बहुत कष्ट पा रहे हैं और बहुत पीड़ा झेल रहे हैं मगर जड़ों को छोड़ नहीं सकते भय लगता है कि अगर अहंकार न रहा तो फिर मैं कौन अहंकार परिभाषा देता है एक तादात्म देता है एक एहसास देता है कि मैं यह हूं मैं वह हूं इतना धन मेरे पास इतना पद इतना ज्ञान इतना त्याग अहंकार कुछ रूपरेखा देता है ये सब छूट जाए तो फिर मैं कौन हूं एक गहन प्रश्न उठेगा एक बवंडर की तरह प्रश्न उठेगा कि मैं कौन हूं अब धन्य भागी है वो जिनके भीतर ये प्रश्न एक बवंडर की तरह उठता है कि मैं कौन क्योंकि फिर देर नहीं है मिलने में जिस दिन ये प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं एक बात साफ हो गई कि तुमने अब तक अपने को जो जो मान रखा था उस सब से नाता तोड़ लिया है अब तुम नहीं कहते कि मैं शरीर हूँ नहीं कहते कि मैं मन हूँ नहीं कहते हिंदू नहीं मुसलमान न भारतीय न चीनी न पाकिस्तानी अब तुमने सब ऊपर के चौथे आवरण छोड़ दिए तुमने सारे वस्त्र गिरा दिए अब तुम नग्न खड़े हो अब तुम्हें पता नहीं चलता कि मैं कौन हूं आधी घटना घट गट गई आधी क्रांति हो गई झूठा मैं टूट गया अब बस प्रश्न की गहनता मैं कौन बढ़े ऐसी बढ़े कि प्राणों में छिद जाए भिद जाए श्री रमन कहते थे कि कोई सिर्फ अगर एक ही प्रश्न पूछता रहे बैठ के कि मैं कौन मैं कौन और ऊपर से दिए गए कोई भी उत्तर स्वीकार न करे तो एक दिन भीतर से उत्तर आता है उत्तर नहीं आता अनुभव ही आता है अनुभव ही उत्तर है एक दिन साक्षात्कार होता है कि मैं कौन अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं शून्य हुए कि पूर्ण उतरा मिटे कि पाया यहां खोने वाले ही पा सकते बड़ा सीना चाहिए चरागे दूर चलाओ बड़ा अंधेरा है जरा नकाब उठाओ बड़ा अंधेरा है वो जिन के होते हैं खुर्शीद आस्तीनों में उन्हें कहीं से बुलाओ बड़ा अंधेरा है मुझे तुम्हारी निगाहों पर एतमाद नहीं मेरे करीब ना आओ बड़ा अंधेरा है फराज अर्श से टूटा हुआ कोई तारा कहीं से ढूंढ लाओ बड़ा अंधेरा है अभी तो सुबह के माथे का रंग काला है अभी फरेब ना खाओ बड़ा अंधेरा है जिसे जवाने खिरद में शराब कहते वो रोशनी सी पिलाओ बड़ा अंधेरा है जरा गौर से तो देखो कितने अंधेरे में गिरे खड़े हो इसी को जिंदगी मान रहे हो इन्हीं कांटों को फूल समझ रहे हो इसी फांसी को सूली पे लटके हो एक नहीं हजार सूलियों पे लटके हो और सोच रहे हो यही जिंदगी ऐसे ही सूली पे लटके लटके टूट जाओगे श्वास टूट जाएगी और जान भी ना पाओगे कि जिंदगी क्या थी अंधेरे में ही जिए अंधेरे में ही मर जाओगे चरा के तूर जलाओ तूर नाम के पर्वत पर मूसा को परमात्मा की रोशनी दिखाई पड़ी थी उसको कहते चरा दे तूर परमात्मा वहां प्रज्वलित अग्नि की भांति मूसा के सामने प्रकट हुआ था और ऐसी प्रज्वलित अग्नि कि मूसा एक क्षण को किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे कुछ समझ में न पड़ता था बड़ी रहस्यमय अग्नि क्योंकि एक हरी भरी झाड़ी के बीच से उठ रही थी लपट आग जल रही थी और झाड़ी हरी की हरी थी न फूल कुमलाए थे न पत्ते कुमलाए थे आग थी मगर बहुत ठंडी आग थी परमात्मा आग है बहुत ठंडी आग है रोशनी लेकिन ताप नहीं बड़ी शीतल आग है चरा के तूर जलाओ तुम्हें भी जलानी होगी ऐसी रोशनी अपने भीतर जिसमें ताप नहीं काम वासना आग है जो जलाती प्रार्थना भी आग है जो जलाती नहीं आग के दो गुणधर्म एक जलाना और एक रोशनी देना काम वासना जलाती है क्योंकि तप है बुखार जैसी है मारती है इसी को निखारना है शुद्ध करना है इसमें से वासना चली जाए इसमें से पाप चला जाए और यही प्रार्थना बन जाए शीतल हो जाए ठंडी आग ऐसी ठंडी आग को देखकर तो कबीर ने उलट बांसियां कही उलट बांसियों का अर्थ है कि जिंदगी के सत्य तार्किक नहीं है अतर्क कबीर कहते नदिया लागी आग नदी में आग लगी नदी में आग लगती नहीं लेकिन कबीर ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसे सत्य दिखाई पड़ रहे हैं जिन पर तुम भरोसा न कर सकोगे जैसे कोई कहे आके कि मैंने नदी में आग लगी देखी और तुम कहोगे रहने की तो इतना झूठ ना बोलो दो अफीम थी एक झाड़ के नीचे बैठे सब कर रहे थे तिलक में थे एक अफीम जी ने कहा मेरे दादा का घर इतना बड़ा था कि एक बार एक बच्चा गिर पड़ा ऊपर की मंजिल से तो नीचे आते आते तक जवान हो गए दूसरे अभिंचे ने कहा ये कुछ भी नहीं मेरे दादा का मकान इतना बड़ा था एक बार एक बंदर गिर पड़ा तो नीचे आते आते तक आदमी हो गया पहला सिंह से बोला कि इतनी नहा को चलो मैं भी थोड़ी बदले लेता हूं बच्चा नहीं था बस रेख निकल ही रही थी गिरा था और जवान हो गया था अब तुम भी अपनी कहानी में सुधार कर लो दूसरे तीन ने का अगर तुम इतना करने को राजी हो तो मैं भी कर सकता हूँ मुहर्रम के दिन थे वो आदमी असली में बंदर नहीं था बंदर बना था नीचे आते आते तक घबराहट में पसीने में रंग बह गया स्वाद तो आदमी हो गया था असीम पे हाथ लेना आसान है मगर तुम्हारे पुराण असीमसियों की पीनक से कुछ और ज्यादा नहीं मालूम होते और हरेक पुराण हरेक धर्म अपने दावे बड़े बड़े करता है ऐसे दावे जो कि असीम की करें तो क्षमा किए जा सके लेकिन पंडित पुरोहित करते हैं तुम दावे जरा गौर से देखो जरूर अंधेरे में लिखी गई होंगी ये किताबें और अंधों ने लिखी होंगी अंधेरे की ही स्याही से लिखी होंगी जिनमें रोशनी कहीं दिखाई नहीं पड़ती महावीर को मानने वाले कहते हैं कि महावीर मलमूत्र का विसर्जन नहीं करते थे भोजन करोगे पानी पियोगे और मरमूत्र का विसर्जन नहीं करोगे महावीर को पसीना नहीं आता था एक तो नंग गड़ंग बिहार की गर्मी धूप धाप और महावीर को पसीना नहीं आता था तो किसको पसीना आया था चमड़ी थी कि प्लास्टिक था जीवित व्यक्ति की चमड़ी में रोआ रोआ श्वास लेता है रोआ रोआ शरीर को शीतल करने का उपाय करता है इसलिए पसीना आता है पसीने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसका अपना रासायनिक अर्थ है अगर जिस आदमी को पसीना ना आता हो वो जिंदा नहीं रह सकता वो मरी जाएगा मरी चुका मुर्दे कोई पसीना नहीं आता पसीना आना जरूरी है क्योंकि पसीना शरीर को एक सुनिश्चित तापमान में रखने की प्रक्रिया है तुमने देखा सर्दी हो कि गर्मी शरीर के भीतर का तापमान समान रहता है वही अंठानबे डिग्री के करीब कितनी ही गर्मी पड़ रही हो तुम्हारे भीतर कोई 110 डिग्री गर्मी नहीं हो जाती नहीं तो तुम खत्म ही हो जाओ और कितनी ही सर्दी पड़ रही हो शून्य डिग्री से नीचे उतर गए हो तापमान तो तुम शून्य डिग्री के नीचे नहीं उतर जाते नहीं तो गए लौटने का कोई उपाय नहीं तुम तो अंठानबे डिग्री के करीब ही रहते हो शरीर बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है जब बहुत गर्मी पड़ती है तो रोए रोए से पसीना बहता पसीना क्यों बह रहा है पसीना इसलिए बह रहा है कि शरीर की गर्मी को पसीना पी लेगा और भाप बन के उड़ जाएगा शरीर की गर्मी पसीने को भाप बना देगी शरीर की गर्मी पसीने को भाप बनाने के काम आ जाएगी और भीतर इकट्ठी नहीं होगी इसलिए जब तुम सर्दी में ठिठुरने लगते हो तो कपड़े लगते हो दांत खटखटाने लगते क्यों ये शरीर की तरकीब है कंपन पैदा करने की गति पैदा करने की ताकि गति के द्वारा सर्दी तुम्हें बिल्कुल सर्द ना कर जाए गति बनी रहे हलन चलन होता रहे तो तुम्हारे भीतर गर्मी बनी रहेगी महावीर को पसीना नहीं निकलता महावीर को नहीं किसी तीर्थंकर को नहीं चौबीस तीर्थंकर जैनों पसीना नहीं निकलता वो खास परिभाषा है अगर कोई दावा करे कि मैं तीर्थंकर हूं तो पहली बात सिद्ध करना पड़ेगी कि पसीना निकलता है कि नहीं पसीना निकलता है तो बात खत्म हो गई उत्तीर्ण नहीं हो सकते फिर तीर्थंकर की परीक्षा ईसाई कहते हैं कि जीसस कुमारी बेटी से पैदा हुए अफीम की तरह पीनक में बातें कर रहे हो जीसस पानी पे चलते कि जीसस मुर्दे को जिला लेते कि जीसस अंधों को छू देते उनको आंखें आ जाती यही जीसस जब सूर्य पर लटकाए जाते हैं और उन्हें प्यास लगती तो पानी मांगते कोई चमत्कार काम नहीं आता यानी जीसस ने पूरे समुद्र को चमत्कार करके पानी से शराब बना दिया था मोहम्मद जहां भी जाते उनके ऊपर एक बदली छाया करके भी चलती हो छाती की तड़की निकाली कहा छाता लिए फिर मोहम्मद तेरे बदली अटकी रहती से तुम तो ऊपर वो जहाँ चले और रेगिस्तान में भयंकर गर्मी जरूरत भी है छाते की मगर क्या छाता खोजा हवा किसी तरफ जा रही मोहम्मद किसी तरफ जा रहे तो भी बदली मोहम्मद के साथ जाती हवा के साथ नहीं जाती अब बदलिया थी ऐसे मोहम्मदों का पीछा करती ये दूसरी बात है कि मोहम्मद ही देख देख चेक चलते हो कि बदली कहाँ को जा रही ये दूसरी बात है कि जिस तरफ जाए बदली उसी तरफ चले मुला नसुद्दीन एक दिन अपने गधे पर बैठा हुआ तेजी से चला जा रहा था बाजार में लोगों ने पूछा नसरुद्दीन कहाँ जा रहा है वो बड़ी तेजी से उसने कहा मेरे गधे से पूछा क्योंकि मेरी तो सुनता नहीं और कभी कभी बीच बाजार में फजीत करवा देता है कि मुझे ले जाना बाया उसको जाना नहीं अब गधे तो गधे और चार आदमी देख के भीड़ भाड़ में उनकी असर बढ़ जाती गधे भी बड़े राजनीतिक होते देखिए बहुत से वोटर अकड़ गए कि तुमने समझा क्या है मुझको मुल्ला ने कहा कि अकेले में तो मैं इसको जहाँ चाहता हूँ वहां चला जाता है मगर बीच बाजार में अगर मैंने इसको रोका चेड़ा की बस लौटने कोटने लगता उपद्रव मचा देता चार आदमियों के सामने बंद हो जाती तो मैंने भी एक तरकीब निकाल ली गधा है ये क्या समझता है आखिर मैं भी उससे आदमी आदमी अब मैं बाजार में इसको चलाने की कोशिश ही नहीं करता जहाँ जाता है स्थान से उसी तरफ जाता हूँ गाँव के बाहर निकाल के फिर जहाँ ले जाना ले जाऊंगा मगर गाँव के भीतर जहाँ ये जाता है इससे इज्जत भी बनी रहती है गाँव के लोग समझते हैं कि क्या प्यारा गधा है इसी प्यारे गधे को मुला नसुद्दीन एक तरफ बेचने ले गए थक गया परेशान हो गया इस गधे से खूब नहलाया धुलाया लख साबुन लगाई कंगी की लेके चला एक आदमी ने देखा एक रईस ने देखा एक शानदार साफ सुथरा गधा सुगंधित कभी देखा नहीं था और मुला नीचे चल रहा था उसमें बैठा भी नहीं था तो उस अमीर ने कहा कि इतना अच्छा गधा इस पर बैठते क्यों नहीं मुला ने कहा कि नहीं बड़ा प्यारा गधा है इसको बैठ के मैं कष्ट नहीं देना चाहता तभी तो इसकी शान है गधों में ये पहुंचा हुआ गधा है सिद्ध पुरुष समझो अमीर का दिल आ गया उसने कहा कि ठीक है मैं खरीद लेता हूँ जितने रुपए मुल्ला ने मांगे जितने ज्यादा से ज्यादा मांगने की कल्पना कर सकता था मांगे अमीर ने दे दिए दूसरे दिन अमीर गधे को के मुल्ले के घर आया और कहा कि तो धोखा किया तुमने ये गधा तो बड़ा अजीब है बैठो तो बैठने नहीं देता दुलत्ती मारता है जमीन पर लौट जाता है खाने में भी इसको श्रेष्ठम भोजन चाहिए दूसरी कोई चीज खाता नहीं ये कहा की झंझट दे दी मुल्ला ने कहा इसमें और कोई खराबी नहीं बस एक बात पर ख्याल रखना कभी इस पर बैठने की कोशिश मत करना और सब बातों में ये सुंदर है बस इस पर बैठना पर मन तो गधे पे अगर बैठो ना तो प्रयोजन क्या रहा ये शास्त्रों में तुम्हारी जो कहानियां से इनको तुम जीवन में तो उतार ही नहीं सकते न तुम पानी पे चल सकते हो न आकाश मोड़ सकते हो न पसीना बहने से रोक सकते हो न बदलियों को अपने सिर पे चला सकते हो न मर्दों को उठा सकते हो न अंधों को आंख दे सकते हो इन सारी कहानियों का कोई अर्थ ही न रहा ये फिजूल है ये पीनत में कही गई है और ये सिर्फ दूसरे से अपने को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश में चेष्टा चल रही अगर तुम्हारा कीर्तन कर ऐसा करता है तो हमारा अवतार इससे बड़ा करके जाएगा और जब कहानियां नहीं लिखनी तो फिर अपना दिल जो चाहो करो जैसी कहानी बनाना चाहो बनाओ इन कहानियों को तुम धर्म मत समझ लेना और इन कहानियों के कारण बड़ा अंधेरा है धर्म तो चरा के दूर है कहानी किससे नहीं पुराण कथाएं नहीं धर्म तो चरा के दूर है ये तो ठंडी रोशनी है ये तो रोशनी का एक रूपांतरण है ये तो अग्नि के, के भीतर हो गई एक क्रांति है और जब तुम्हारे भीतर ये चढ़ा के टूट चलता है यहूदी खोजते हैं कि टूर नाम का पर्वत कहाँ है कोई कहता यहाँ कोई कहता वहां मैं कहना चाहता हूँ ये टूर नाम का पर्वत बाहर नहीं है ये टूर नाम का पर्वत भीतर है और जिस झाड़ी में मूसा ने आग लगी देखी वो तुम हो इस झाड़ी को कहीं और खोजने मत जाना वे फूल तुम्हारे वे पत्ते तुम्हारे जरा के तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है जरा नकाब उठाओ बड़ा अंधेरा है थोड़ा घूंघट हटाओ घूंघट के पटखोल तुझे किया मिलेंगे मगर साहस ही नहीं रहा हमने हमारी जिंदगी में साहस एकदम विदाई हो गया है सो पावेगा लाल जाए के गोता मारे मर्जीवा हुई जाए लाल को तुरंत निकाले निश्चिन मारे मौज मिली है वस्तु अपानी फिर तो मौज ही मौज है अप्राप्त मिल गया जो नहीं मिल सकता है वह मिल गया असंभव संभव हुआ निस्दिन मारे मौज मिली अब वस्तु अपानी रिद्धि सिद्धि और मुक्ति भरते घर पानी जिन्होंने भीतर की रोशनी को जान लिया ये चराग जिनका जल उठा जिन्होंने घूंघट हटा दिया जिन्होंने अपने सब पर्दे गिरा दिए जिन्होंने अपने स्वभाव को उसकी समग्र नग्नता में पहचान लिया अब उन्हें न रिद्धियों की फिक्र है न सिद्धियों की फिक्र है न मुक्ति की चिंता ये सब उनके घर पानी भरती वे साहब वे साहन के साथ उन्हें है आंख ने पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश करें सब उनकी पूजा जिसने भीतर का दिया जला लिया है जिसके भीतर ध्यान का दिया जला या भक्ति का दिया जला प्रेम का दिया जला अब उसे किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाना पड़ता उल्टी घटना घटती है ब्रह्मा विष्णु महेश करें सब उनकी पूजा वे सहन के साथ वे सहनसा है और उनकी संपदा और साम्राज्य ऐसा है जो कोई छीन नहीं सकता पलटू गुरु भक्ति बिना भेष गया बंगाल जो साहिब का लाल है सो का लाल अब दुनिया में बहुत सन्यासी दिखाई पड़ते हैं साधु महात्मा मुनि त्यागी वृत्ति मगर पलटू कहते हैं चूकी एक चीज चूक रही सब कंगाल पलटू गुरु भक्ति बिना वेश गया कंगाल अब ये सिर्फ कंगालियों के अलग अलग रूप कोई मुनि कोई महात्मा कोई साधु ये सब भिकमंगी के ही रूप है इन सब में भिकारी ही छिपा हुआ है जिनसे कुछ करते नहीं बनता वे साधु हो गए जो जिंदगी में कहीं सफल न हो सके वे साधु हो गए जो सब जगह असफल हो गए उन्होंने सोचा चलो साधु हो जाए कम से कम सम्मान तो मिलेगा मुफ्त सम्मान उल्टे सीधे कामों के कारण सम्मान मिल रहा है कोई कांटों पर सोया है सम्मानित हो रहा है किसी ने मुंह में भाला भोंक लिया है वो सम्मानित हो रहा है कोई उपवास कर रहा है वो महाव्रती समझा जा रहा है भूखे मर रहा है सिर्फ ये सिर्फ कंगाल असली सन्यासी है होता है उसके पास लाल होता है उसके पास परमात्मा का हीरा होता है खोजत हीरा को फिरे नहीं पोत का दाम लोग खोजते तो हैं हीरे को मगर पास में पोत खरीदने के भी दाम नहीं कांच के गुड़िए खरीदने की भी दाम नहीं और हीरे खरीदने चल पड़ते लोग पूछते ईश्वर कहा ईश्वर को कैसे पाए ईश्वर का प्रमाण क्या है ईश्वर को सिद्ध करे खोजत हीरा को फेरे नहीं पोत का दान और ये कोई भी नहीं पूछता कि मेरी सामर्थ्य क्या है कि ईश्वर को जानू मेरा अधिकार क्या है कि ईश्वर को जानू मेरी पात्रता क्या है कि ईश्वर को जानू सम्यक खोजी ईश्वर के संबंध नहीं पूछता पूछता है कि मैं कैसी पात्रता निर्मित करूं कि ईश्वर का अनुभव हो सके मुझे बांटते दे कि मैं अपनी आंखों को कैसे धो कि सारी धूल झड़ जाए और मैं देख सकू उसे जो है मेरे हृदय को निखारने की कोई कीमिया नहीं ताकि मेरे भीतर भी प्रेम का बन सके सच्चा खोजी परमात्मा की बात नहीं पूछता अपनी पूछता है अपनी दुर्दशा को कैसे रूपांतरित करूं इस संबंध में पूछता है ये नहीं पूछता कि परमात्मा है या नहीं ये पूछता है कि ये मेरा अंधेरा कैसे कटे ये मेरा अंधापन कैसे मिटे खोजत तो हीरा को फिरे नहीं पोत का दाम नहीं पोत का दाम जौहरी की गांठ दे कैसे नहीं है कांच के गुड़िए खरीदने को और पहुंच जाते हैं जौहरियों के पास और चाहते हैं कि जौहरी खोल दें अपनी गांठ दिखाएं अपने बहुमूल्य हीरे शायद साधारण दुनिया में तुम जौहरी को धोखा देगी तो क्योंकि जौहरी कैसे समझेगा कि तुम्हारे पास दान है या नहीं तुम अगर जाकर पूछोगे कि भाई हीरो का क्या भाव तो जौहरी बेचारा बताने लगे मगर परमात्मा के जगत के जो जौहरी है तुम किसी गुरु को धोखा ना दे पाओ तुम किसी बुद्ध को धोखा ना दे पाओ बुद्ध के पास जाके लोग पूछते ईश्वर है बुद्ध बात ही टाल जाते बुद्ध बात ही कुछ करते अनेक बार लोगों ने बुद्ध को कहा कि हम कुछ पूछते हैं आप कुछ कहते आप हमारे प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर क्यों नहीं देते बुद्ध कहते तुम्हारा प्रश्न अभी पूछने का क्षण नहीं आया उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मैं वह उत्तर दे रहा हूँ जो तुम अभी समझ सकते हो तुम वह पूछ रहे हो जो कभी शायद तुम समझ सको आज उत्तर देने का समय नहीं आज तुम पके नहीं हो आज तुम्हारी कोई पात्रता नहीं कोई अधिकार नहीं इसलिए युद्ध में ईश्वर है या नहीं इस संबंध में चुप्पी रखी लोगों ने मन गणन सिद्धांत बना लिए किसी ने मान लिया कि ईश्वर है लेकिन चूंकि गुंगे का गुड़ कहा नहीं जा सकता इसलिए बुद्ध चुप तो कम से कम इतना तो कह सकते थे कि घूमे का गुण इतना तो कह सकते थे कि कहा नहीं जा सकता है इसलिए चुप है ये भी नहीं कहा कुछ मानते हैं ईश्वर है ही नहीं इसलिए बुद्ध चुप है कि कौन झंझट ले कहने की कि ईश्वर नहीं क्यों नाहक लोगों को दुख पहुंचाओ कि ईश्वर नहीं इसकी त्रुटि रहे यह बात भी सच नहीं बुद्ध लोगों को चोट पहुंचाने से नहीं डरते क्योंकि बिना चोट के कहीं कोई पत्थर मूर्ति बनाए बुद्ध लोगों को झकझोरने से नहीं डरते क्योंकि बिना झकझोरे तुम्हारी धूल कैसे झरेगी बुद्ध तुम पर प्रहार करने में जरा भी कृपणता नहीं करते बेरहमी से प्रहार करते क्योंकि तुम पर प्रहार की जरूरत है तुम्हारी गर्दन काट ली तुम्हारा अहंकार गिराना तुम्हारे घर में आग लगा देनी तो भी तुम जागोगे छोटे मोटे उपाय से काम होने वाला नहीं तुम्हारा आलस ऐसा है कि घर में आग लग जाए तो इससे आज तुम दो चार कदम चलो लगी आंख देख के साथ तुम दौड़ के बाहर निकलो बेरहमी से चोट करके इसलिए ये बात ठीक नहीं लोगों को चोट लगेगी इसलिए वो चुप रह गए उनके चुप रह जाने का कारण कुछ और है उनके चुप रह जाने का कारण मैं तुमसे कहता तुम पात्र नहीं थे पूछने के तुम ऐसा प्रश्न पूछ रहे थे जिसके दान तुम्हारे पास नहीं थे इसलिए बुद्ध की अब तक जितनी व्याख्याएं की गई उनसे मैं किसी से राजी नहीं एक तरफ लोग हैं जो कहते हैं ईश्वर है ऐसा बुद्ध जानते हैं लेकिन चूंकि कहा नहीं जा सकता अव्याप्त है निर्वचनीय है इसलिए चूंकि कुछ कहते हैं कि बुद्ध जानते हैं कि ईश्वर नहीं लोग चोट नहीं जाना चाहते इसलिए चुप और कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध को पता ही नहीं है अपना अज्ञान छिपाने के लिए चुपचाप बैठे न बोलने अच्छा क्योंकि बोले फंसे तो ये सारी व्याख्याएं गलत है अगर बुद्ध को पता नहीं तो किसी को पता नहीं अगर बुद्ध को पता नहीं है तो फिर किसी को कभी पता नहीं होगा क्योंकि कौन इतना गहरा गया है न बुद्ध इसलिए चुप है क्या निर्वचनीय न बुद्ध इसलिए चुप चोट नहीं करना चाहते बुद्ध के चुप रहने का कारण खोजत हीरा को फिरे नहीं पोत का दाम नहीं पोत का दाम जोहरी की गांठ खुला में तुम बुद्ध की गांठ नहीं खुला सकते कि बुद्ध कोई साधारण जोहरी नहीं है कि ग्राहक धोखा दे जाए ये तो बुद्ध जब परख लेंगे ठीक से कि हाँ अब ग्राहक की लेने की क्षमता है तो कहेंगे बुद्ध ने कहा है सब कहा है लेकिन उनसे कहा है जिनकी लेने की क्षमता थी वो अत्यंत समीपता में निकटता में मौन में दिए गए संदेश उनका कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं क्योंकि वो कोई सार्वजनिक वक्तव्य नहीं शास्त्रों में तो सार्वजनिक वक्तव्य लिखे गए लेकिन जब बुद्ध ने निकटता में एकांत में अपने निकटतम शिष्यों को कहा वह तो नहीं लिखा गया उसे तो शिष्य लिख भी नहीं सकते क्योंकि फिर वह बात उसी को कही जा सकती है जिसकी गांठ में दाम है इसलिए धर्म के दो रूप है एक रूप है जो सार्वजनिक है जो सबसे कहा जा सकता है वो धर्म का अत्यंत साधारण रूप है और एक धर्म का असली गुह रूप है जो केवल उनसे कहा जा सकता है जो सुनने की पात्रता रखते वह तो कानो कान कहा जाता है तुम सुनते ना कि गुरु कान क्यों है तो गाँव गांव गुरु कान फूकते बात ही हम हर चीज को बिगाड़ देते कान फूकने का मतलब क्या है अब अब ये है जिसमें कुछ फीस होती तीन रुपया ढाई रुपया और कान फूक देता गुरु फूक के क्या कहता है कि यह है तेरा मंत्र राम राम राम राम राम राम जपना किसी को बताना मत क्योंकि बता दे तो नाम नहीं खुल जाए टोली तो खुल जाए अगर सबको कह दे कि गुरु ने काम में कुल की बात की ढाई रुपये ले लिए बेकार राम राम जप नहीं तो हमें ही मालूम था इसमें कौन सी बात बता दी तो कहना मत किसी को कि शर्त आप लगेगा अगर उसको बताओगे किसी को ये कान फूकना कान फूकने का अर्थ कुछ और था कान फूकने का अर्थ था कुछ बातें हैं जो कान में ही कही जा सकती जिनकी गुप्त नहीं हो सकती गुप्त सच्चा फुसफुसा के ही कही जा सकती ये बातें इतनी कीमती तो उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता उनका गुप्त दान ही होता है वे तो निकटतम शिष्यों को ही कही जा सकती उनको संग्रहित भी नहीं किया जाता नहीं पोत का दान जोहरी की गांठ खुलावे बातन की बकवाद जोहरी को बिलनावे लंबी बोलत बात करे बातन की लजनी ग्राहक लंबी चौड़ी बातें कर रहा है जोहरी को बिलमारा है ईश्वर है या नहीं तत्व मसी का क्या अर्थ हम ब्रह्मास्मि की व्याख्या करिए उपनिषद क्या कहते वेद क्या कहते कुरान बाइबल क्या कहती बड़े बड़े सिद्धांत लोग पूछ रहे सिर्फ पंडितों को तुम गिना सकते हो विद्धों को नहीं उनकी आंख तो तुम्हें फौरन पहचान लेगी कि तुम कहा हो और तुम जहां हो बस वहीं से उत्तर दिया जाएगा उतना ही उत्तर दिया जाएगा जितना तुम भेज सकते हो और यही विचित की है थोड़ी गांठ में नहीं करते बातें इतनी लिहा जौरी तार सिरा है गांठ खाली थैली लई समेत दिया गाहक को टाली साधारण जोहरी की आंखें तो समझ ही जाते कितनी देर बातचीत करोगे थोड़ी बहुत देर में समझ में आ जाता साधारण जोहरी भी आंख के टुकड़े बता के देख लेते हैं कि पहचानते हो कि नहीं पहचानते रंगीन कांच के टुकड़े लेकिन लग सकता है बड़े कीमती मैं पहले पहलगांव में था कुछ मित्र मेरे साथ पहले पहलगांव में रुके थे महावीर पर एक अंतरंग सत्संग चल रहा है सुबह सुबह ही सुबह एक आदमी आया उसने अपनी झोली खोली बड़े प्यारे पत्थर थे कश्मीर में बड़े प्यारे पत्थर होते हीरों का धोखा दे जाए ऐसे पत्थर होते दाम उनके कुछ भी नहीं माणिक बाबू भी मेरे साथ थे उनको तो बहुत देखे और सस्ते मिल रहे थे चार रुपया पांच रुपया छह रुपया सात रुपया सात रुपये में हीरा माने बाबू ने सोचा कि खरीद में दस पच्चीस कम से कम मित्रों को बांट देंगे सबके पूरा तो दुकानदार आदमी है तो ठहराया दाम कम करवाने की जो की ऐसे लग रहा था कि वैसे दाम कम तीन रुपए से खुद ही कह रहा है अब और क्या कम करना है लेकिन फिर भी हिम्मत करके कहा भाई नहीं डेढ़ से ज्यादा नहीं वो डेढ़ में राजी हो गए जब थोड़े डरे भी हो गए थोड़े चिंतित भी हुए मगर लगा दी कि डेढ़ रुपए में नहीं अच्छा क्या है इतनी सुंदर चीज ऐसी चमक ताकि नहीं नहीं तो बाहर आने से ज्यादा नहीं देंगे वो बाहर आने में भी राजी तब तो खरीदना ही पड़ा आज उस दिन पता चला कि वो लूट के ले गया वो तो बाजार में दो आने भी मिल रहे माने बाबू ने काफी खरीद लिए पूना में कई लोगों को बांटे हुए जौहरी तो ज्यादा देर न लगेगी पहचान देगा साधारण जौहरी भी पहचान देगा क्या आप जानते हैं पत्थरों के बाबत की नहीं लेकिन जिन असाधारण जौरियों की बात यहाँ चल रही है वो तो एक दफा आपकी तरफ देखा कि बात आपकी आंख में झांका की लोग लाज छूटे नहीं पलटू चाहे ना अभी तुम लोक लाज में पड़े हो और परमात्मा को पाना चाहते हो नाम परमात्मा का नाम पाना चाहते हो परमात्मा का दर्शन पाना चाहते हो लोक लाज छूटे नहीं अहंकार छूटता नहीं और प्रतिष्ठा छूटती नहीं और नाम पाना चाहते हो परमात्मा का खोजत हीरा को करे नहीं पोच का काम ऐसे नहीं होगा कीमत चुकाने की तैयारी करो बिना कीमत चुकाए इस जगत में कुछ भी नहीं परमात्मा तो चूंकि सबसे बड़ी संपदा है इसलिए सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी स्वयं को ही समर्पित करना होगा और फिर बहुत आनंद है फिर आनंद ही आनंद है फिर रस की अजस्त्र धारा बहती है जब वो मसरूर नजर आता है हर तरफ नूर नजर आता है एक बार उसकी झलक मिल जाए क्योंकि ये सारा जगत रोशन है जब वो मसरूर नजर आता है हर तरफ नूर नजर आता है मैं तो मैं ख्वार हूं तू क्यों साथी नशे में चूर नजर आता है और ऐसा ही नहीं कि तुम किए हुए मालूम पड़ते हो परमात्मा और भी ज्यादा किया हुआ मालूम पड़ता है किए ही हुए मस्त इसलिए तो ज्ञानियों ने तो उसने आनंद कहा आनंद उसकी आखिरी परिभाषा बनी मैं तो मैं अखबार हूँ तू क्यों साथी नफ्से में चूर नजर आता है खुद से हाथ उठाया मैंने तू बड़ी जीत नजर आता है मैं ही तना नहीं दिल के हाथों तुझे मजबूर नजर आता है हाँ, खाक खारी के छुपाने के लिए वक्त मकरूर नजर आता है जब वो मसरूर नजर आता है हर तरफ नूर नजर आता है आख खोलो अपने को देखो आख खोलो अपने को पहचानो तुम्हारी पहचान ही तुम्हारे लिए द्वार बनेगी परमात्मा का कोई और सहारा नहीं कोई और संबल नहीं कोई और आलम्बन नहीं कौन हमारा दर्द बटाए कौन हमारा थामे हाथ उनके नजर में जगमग जगमग अपने देश में रात ही रात नीले नीले अंदर पर वो चांद वो किरणों की बरसात हम दोनों खोए खोए से हाय वो मस्त मनोहर रात तू गुलशन गुलशन इजलाए मैं सहरा सहरा बचू दिल का यह सौदा है वरना तेरा और मेरा क्या साथ सब दुनियादारी की बातें दिल पर और जबा पर और उससे प्यार बढ़ाकर आखिर जान गए तेरी औकात चाहे अब इसको अपनाओ चाहे नाक से ठुकराओ हाथ से अपना दखल नहीं है दिल की डोर तुम्हारे हाथ दुनिया का मनसा है प्यारे हम घुट घुट कर मर जाए दिल की झड़कन ये कहती है एक दिन बदलेंगे हालात एक अनोखी लय से मैंने सबके दिल पिघलाए हैं दुनिया को ये वहम की मेरे आंखों पर है अपनी बात चाहे अब इसको अपनाओ चाहे नाक से ठुकराओ हाथ से अपना शक्ति नहीं है दिल की जोर तुम्हारे हाथ जिस दिन कह सकोगे परमात्मा को अब सब छोड़ता तुम्हारे हाथ में कि दिल की जोर तुम्हारे हाथ में छोड़ता अब कैसी तुम्हारी मर्जी अब जो करना हो करो बनाना हो बनाओ मिटाना हो मिटाओ न मेरी तरफ से कोई इशारा है न मेरी तरफ से कोई आकांक्षा है जिस दिन तुम ऐसी सरलता से छोड़ सकोगे उस दिन कीमत चुकाने को तैयार हुए फिर जिंदगी बदलती कुछ नया रंग लेती नया ढूंढ लेती नई गंध लेती माथे पर टीका चंदन का अब दिल के कारण रहता है मंदिर में मस्जिद में मंदिर में मस्जिद बनती है मस्जिद में ब्रह्मन रहता है जल्ले में सूरज और सूरज में जर्रा रोशन रहता है हम मन में साजन रहते हैं और साजन में मन रहता है माथे पर टीका संदेशा अब दिल के कारण रहता है एक तो टीका है बाहर से लगाया गया उसका कोई मूल्य नहीं और एक भीतर की गंध भीतर की सुंदर से लगा हुआ चूल्हा उसका मूल्य मंदिर में मस्जिद बनती है मस्जिद में ब्राह्मण क्रांति हो जाती मंदिर में मस्जिद बन जाता मस्जिद में मंदिर बन जाता फिर मंदिर और मस्जिद के भेद में जाता क्योंकि वही एक है वास्तु सब जगह वही निवास कर रहा सब जगह रुक दुखी चुकी है बरखा की और बीच के बैठे हैं रोते हैं रोने वालों की आंखों में सावन रहता है एक आह निशानी जीने की रहती थी मगर अब वो भी नहीं क्यों दुख की माला जपने को ये के साथ बन जाता है दिल तोड़ के जाने वाले सुन दो और भी रिश्ते बाकी हैं एक सांस की जोड़ी अटकी है एक प्रेम का बंधन रहता जब सब टूट जाता तब भी दिल तो जाने वाले सन दो और भी रिश्ते बाकी है एक सांस की दूरी अटकी है एक प्रेम का बंधन रहता है जिन्होंने अपने को समर्पित किया उन्हें दो चीजों का पता चलता एक अस्तित्व की जोर सांस की जोर वह तो कभी टूट नहीं सकती हम शाश्वत हैं हम शाश्वत के अंश हम सदा से हैं और सदा रहेंगे अहंकार पानी का बबूला है हम नहीं अहंकार बनता है मिटता है हम नहीं न हम बनते न हम मिटते और दूसरी हमारे अस्तित्व में उठती हुई प्रेम की सुगंध वह सदा रहता माया की चक्की चले पीस गया संसार पीस गया संसार बचे न लाख बचावे पलटू कहते हैं सजग हो जाओ होशियार हो जाओ जल्दी दाव पर लगाओ जल्दी उस परमात्मा को खोज लो दुखी मारो गहरे में मोती ले आओ क्योंकि देर की पता नहीं में बचे हाथ में न बचे माया की चक्की चले गया संसार ये माया की चक्की चल रही है ये सारे संसार को पीस रही पीस गया संसार बचे न लाभ बचा गए इसमें कोई कभी बचा नहीं है इतना ख्याल रखना मौत सुनिश्चित है आश्चर्य की बात है कि जीवन में जीवन सुनिश्चित नहीं है मौत सुनिश्चित है जीवन में और कुछ निश्चित नहीं है सिवाय मौत लेकिन जो इतना निश्चित उसको हम देखते ही नहीं आने रहते टाले चले जाते रोज लाखों लोग जमीन पर मरते फिर भी बाकी रहने वाले यही सोचते हमें नहीं मरना कल ये जो आज मर गए हैं वो भी यही सोचते थे कि हमें नहीं मरना किसकी मौत कब आ जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता पीस गया संसार बचे न लाख बचावे दो घट की बीच को न साबित जावे काम क्रोध मद लोग तरक्की के पीछे हारे काम का अर्थ है यह मिले वह मिले मिलता ही रहे जो नहीं है उसके पीछे दौड़ क्रोध का अर्थ है तुम्हारी दौड़ में जो भी बाधा पैदा करे उसके प्रति रोष उसे मिटा डालने की आकांक्षा मद का अर्थ है तुम जो चाहते हो मिल जाए तो अहंकार अकड़ और लोक का अर्थ है जो मिल गया है वो और मिले और मिले ये सब काम के ही भिन्न भिन्न रूप है काम में ही बाधा पड़े तो क्रोध काम पूरा हो जाए तो मत और पूरे हो जाने पर भी कुछ पूरा नहीं होता वासना कोई भरती नहीं एक सुखी फकीर के पास एक युवक आया और उस युवक ने कहा कि कैसे परमात्मा को पा सकता हूं सुखी फकीर ने कहा कि अभी तो मैं जा रहा हूँ कुएं पर पानी भरने तुम मेरे साथ आओ हो सका तो वही उत्तर भी हो जाएगा मगर एक शब्द ख्याल रखना कसम खाओ ये पहली कसौटी कि तुम विद्यार्थी होने के योग्य हो भी या नहीं मैं कुएं पे कुछ भी करूं तुम प्रश्न मत उठाना तुम चुपचाप तो देखते रहना तुम्हारा काम निरीक्षण का तुम्हारा काम साक्षी का साक्षी की शिक्षा विद्यार्थी भी बड़ा उत्सुक हुआ क्योंकि साक्षी ही तो सार है सुना है शास्त्रों में पढ़ा है शास्त्रों में ज्ञानियों से जाना है साक्षी ही तो सार है ये भी अद्भुत गुरु है पहले ही मौके पे बस आखिरी कुंजी देने लगा चल पड़ा जल्दी उत्सुकता में आतुर मस्त कि कुछ हाथ लगने को कुएं पे पहुंच के लेकिन बड़ी निराशा लगी हाथ क्योंकि वो फकीर पागल मालूम पड़ा उसने एक बाल्टी निकाली अपने झोले में से जिसमें पेंदी थी ही नहीं जब उस विद्यार्थी ने देखा कि बिना पेंदी की बाल्टी मारे गए और जब उसने डोरी बांधी और बिना पेंदे की बाल्टी उसने कुएं में डाल दी तो बार बार उसके सामने सवाल उठने लगा कि पूछो कि आप क्या कर रहे हैं लेकिन याद था उसे कसम खा ली थी कि दूसरे में फिर साक्षी रहना ये भी बड़ी झंझट हो गई जवान पे आ जाए सवाल घोट दे गर्दन में सवाल को और वो फकीर पानी भरने लगा बिना पेंदे की बाल्टी खूब खड़खड़ाए कुएं में जितना वो खड़खड़ाए उसकी छाती की खड़खड़ाए विद्यार्थी की जो मारा ये कब पानी भरेगा जब कुएं में पानी बाल्टी रहे तो तो भरा हुआ मालूम पड़े जब डूबी रहे पानी में और जैसे ही वो खींचे कि खाली ऊपर आ जाए देखे कि खाली तो फिर डाले एक बार दो बार दस बार आखिर भूल गया विद्यार्थी अपनी कसम उसने कहा कि रुको जी होश है ये तो जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी और मेरी मैं भी किसके चक्कर में पड़ गया इस बाल्टी में कभी पानी नहीं भर सकता उस गुरु ने कहा बात खत्म हो गई अब तुम अपने रास्ते लगो तुम पहला वचन पूरा न कर पाए बस एक बार और मैं डालने वाला था बस एक बार और तुम बस पहुंचते पहुंचते चुप गए मैं क्या करूं मैंने तय किया था ग्यारह बार दस बार तो हो चुका था जरा और धीरे रख लेते बस जरा और मुझे मालूम कि बड़ी तकलीफ तुम्हें हो रही थी पसीना पसीना तुम हो रहे थे तुम्हारा सब हाल मुझे मालूम बाल्टी खड़खड़ा रही तुम भी खड़खड़ा रहे थे सब मुझे मालूम बाल्टी से ज्यादा परेशान तुम थे लेकिन अगर एक बार और धीरे रख लिया होता तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लेता रास्ता ना उसने बाल्टी रखी अपने झोले में घर वापस लौट गए विद्यार्थी ने भी सोचा कि हो तो गई गलती पता नहीं ये क्या देने वाला था एक ही बात और खूब चूके मगर ये आदमी भरोसे का नहीं हो सकता है हम और एक बार रहते और तब भी यही कहता इस आदमी का क्या पक्का हम बीस बार भी चुप रहते ये कहता है इक्कीसवीं बार इसने कुछ पहले से बताया तो था नहीं कि ग्यारह बार चुप रहना हजार बार भी अगर हमने धीरज रखा होता तो ये कहता बस एक ये आदमी बड़ा चालबाज पागल भी है और चालबाज भी लौट तो गया घर लेकिन बीच बीच में ख्याल आने लगा कि चालबाज कितना ही हो पागल कितना ही हो आंखों में उसकी एक मस्ती तो थी जो कहीं और नहीं देखी उसकी चारों तरफ एक आभा मंडल तो था एक जलता तो थी मैं चुप गया मुझसे दूर हो गई रुक न सका आधी रात वापस पहुंच गया एकदम पैर पर गिर पड़ा था मुझे क्षमा कर दो मुझसे भूल हो गई उस फकीर ने कहा अगर तुम समझ गए हो समझ के क्षमा मांग रहे हो समझ के कह रहे हो कि तुमसे भूल हो गई तो पाठ पूरा हो गया यही तुम्हारी अब तक की जिंदगी वासना बिना पैंदी की बाल्टी इसको संसार के कुएं में डालते रहो डालते रहो खड़खड़ाते रहो हर बार भरी हुई मालूम होगी और जब खींच के लाओगे गांठ तक खाली हो जाएगी ये कभी भरने वाली नहीं ये पहला पाठ जो मैंने बाल्टी के साथ किया और तुम समझ गए अब वही अपने साथ करो और समझो जिस दिन ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए फिर आना फिर दूसरा पार्ट दूंगा अब अपनी वासना की बाल्टी को रोज रोज देखो डालते हो कुएं में अब खाली की खाली लौट आती काम का अर्थ है अंधी वासना क्रोध का अर्थ है तुम्हारी वासना में जो भी बाधा डाले मद का अर्थ है अगर कभी भूल चूक से किसी संयोग वसात तुम्हारी बाल्टी भर जाए तो अहंकार पकड़ता है और लोभ का अर्थ है बाल्टी कितनी ही भर जाए मन कहता और मन कभी और की आवाज बंद करता ही नहीं मन तो ऐसा समझो जैसे ग्रामाफोन का रिकॉर्ड है जिसकी सुई एक ही जगह अटक गई और वही और वही और वही दोहराए चली जाती मैंने सुना है एक नया हवाई जहाज बना है वो बिना पायलट के पूरा आर्टिक न उसमें पायलट न उसमें होस्टेस न कोई स्टीवर्ड कोई भी नहीं बस यात्री और मशीन ही सब करेगी सब ऑटोमेटिक एक बटन दबाओ भोजन आए दूसरी बटन दबाओ चाय आए एक बटन दबाओ फौरन इंटरकॉम पर आवाज आए कि कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हो मंजिल कितनी दूर है कितनी देर में पहुंच जाओगे यात्री बड़े खुश थे लोगों ने बड़ी मुश्किल मुश्किल से टिकटें पाई थी बड़ी भीड़ मची थी कौन सबसे पहले उड़ बिना पायलट के हवाई जहाज में हवाई जहाज उड़ा हजारों फीट ऊपर उठ गया तब इंटरकॉम पे आवाज आई निश्चिंत हो जाइए अपनी अपनी बेल्ट खोल लीजिए विश्राम करिए जरा भी चिंता मत रखिए कि पायलट नहीं कोई भूल कभी नहीं हो सकती कोई भूल कभी नहीं हो सकती कोई भूल कभी नहीं हो सकती कोई भूल कभी नहीं हो सकती बस छाती बैठ गई यात्रियों की के मारे गए भूल तो यही हो गई अब आगे क्या होगा अब कुछ कहा नहीं जा सकता ऐसा ही मन है वो कहता और और और उसकी और की मांग कभी समाप्ति नहीं होती दस हजार है तो कहता दस लाख दस लाख है तो कहता दस करोड़ वो मांग बढ़ाया जाता फैलाया चला जाता इन्हीं में पिस रहा है आदमी ये है पीसन हारे काम क्रोध मतलोभ चक्की के पीसन हारे त्रिगुण डारे झोंक बकरी के सबे निकाले तृष्णा बड़ी छिनारी जाई उन समर घाला और ये तृष्णा है ये तो वैश्या है इसका कुछ भरोसा नहीं ये कहाँ कहाँ भटकाती कहाँ कहाँ ले जाती कितने जन्मों में कितनी योनियों में इसने भटकाया है काल बड़ा बरियार किया उन एक ने वाला और मौत आती और एक ही निवाले में बस एक ही कौर बनाती तुम्हारा दो कौर भी नहीं बनाती कि सोचने का मौका मिल जाए पलटू हरि के भजन बिन कोई न उतरे पार माया की चक्की चले पीस गया संसार इस माया की चक्की में अगर कोई भी उपाय है उतर जाने का पार अगर इस भव सागर के पार उतरने की कोई नाव तो हरि भजन मगर हरि से प्रीति कैसे हो दाम चुकाने होंगे पात्रता पैदा करनी होगी गहरे में गोता लगाना होगा यह संन्यास किसी बात का शिक्षण है साहस का दुस्साहस का गहरे में गोते लगाने का मोती तुम्हारे है मगर गहरे में गोता लगाए बिना नहीं मिलेगी किनारे पर बैठे बैठे तो तुम सिर्फ गमाओगे जीवन कमा नहीं पाओगे डुबकी मारो जो साहिब का लाल है सो पावेगा लाल जाई के गोता मारे मर जीवा हो जाए लाल को तुन निकाले बस एक कला सीख लो जीत जी ऐसे हो जाओ जैसे नहीं हो यही संन्यास है यही संन्यास का सार सूत्र आज इतना है